सदगुरु मिले तो अगम बतावे अगम की बात बताते जिसकी गम नहीं है हम लोग नहीं जानते ईश्वर परमात्मा कहाँ रहता है तो सदगुरु बताते मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में न तीरथ में न मुहूर्त में न एक निवास में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की खिलाफ एक पल में परमात्मा मिलता है परमात्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है हमारी सृष्टि लोग लाने हो गई लड़का लड़की जाति पाती में फंस गई इसलिए उसी को हम लोग मनन करते अल्पज्ञता की लहर में चले जाते हैं हम लोगों को विशेष ज्ञान नहीं होता है ये करना तो मनुष्य शरीर में सभी काम है लोक परलोक भी जाना है और निर्णय करना है कहाँ लोक है कहाँ परलोक है इसका स्मरण भी करना है और उस पर तत्पर भी होना है जब तक हम तत्पर नहीं होंगे तब हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए परमात्म वृत्ति रखना जरूरी है सतगुरु की शरण लेना जरूरी है सतगुरु सबसे बड़े परमात्मा होते हैं गुरु व सतगुरु दो होते हैं गुरु लौकिक होते हैं ये लोक में ले जाते हैं हमारी आस्थाएं जहाँ जहाँ बनी होती है बस उस लोक में हम लोग चले जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो है विशुद्ध कर्म करने वाले हैं महापुरुष सब तक वृत्ति वाले जो महापुरुष हैं तो देव लोग जन लोग सब लोग ब्रह्म लोग वैकुंठ चले जाते हैं हमको नहीं समझ आता है क्यों नहीं आता है कि हम लोग कल्पज्ञता की लहर में हैं लड़का लड़की जाति पाति भी इसमें फंस गए अपने स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान नहीं है हमारे अपने स्वरूप पे ध्यान कब होगा जब सदगुरु के शरण जाएंगे सदगुरु मिले तो अगम बतावे अगम की बात यमुने जी यानी कहाँ सतलोक है कहाँ देवलोक है कहाँ जनलोक है कहाँ सतलोक है जानेंगे तो आप पर कोई दूसरा थोड़ी जानेगा कि ये देवलोक है जनलोक है तपलोक है सतलोक है जब आप जाएंगे वहाँ तभी आपको ज्ञान होगा और जब भी नहीं जाएंगे तो कैसे ज्ञान होगा तो सूरज प्रति संसार में कैसे पड़ गए दूर सूची हमारी संसार में फंस गई लोक ग्रामी हो गई लोक ग्रामी होने से परमात्मा हमारे पास में रहता हुआ नहीं दिखाई देता का सिद्धांत है वेद में लिखा है को बची सब भूतान परमात्मा एकम रूपम वो करोती तम आत्मसंसम येन पसंति सीराते शाम स्वतंत्रता सुखम में एक जो सत्पुरुष परमात्मा सबके हृदय में रहता तो दिखाई नहीं देता जैसे आंख में हमने लगाया सुरमा लगाया काजल लगाया अपनी आंख नहीं देखती इसी तरह से परमात्मा अपने हृदय में रहता हुआ नहीं दिखाई यानी गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति माया ईश्वर के हृदय में रहता है तो अर्जुन उत्तम सफल सहदेव है जानते हो ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है अपने भूत हम लोग नाई धोबी ब्राह्मण बने की लहर में है अज्ञान की अल्पकता की लहर में है जब हम इसको आगे कहते हैं तो अर्जुन को कहा कि भाई अर्जुन माया के कोलू में पेरे गए लड़का लड़की जाति पाति इसमें इनका मन है परमात्मा को कोई चाहता नहीं कहा नहीं मेरे की तो इच्छा है क्योंकि उनका साथ करते करते कुछ ज्ञान हो गया था है जैसा संग करे नरलोई तैसी बुद्ध शरीर हुई जैसी संगत करता है वैसी बुद्धि हो जाती है तो उन्होंने कहा कि मेरे को परमात्मा दिखाओ जरूर तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा तो दिखा दो तो तेरी बुद्धि जो है लोक गामनी है पर लोक से संबंध नहीं है इसलिए तू नहीं मानता है तो मैं बतलाता हूँ रास्ता ये सब के लिए हमारे लिए आपके लिए आपके लिए सबके लिए मैं रास्ता बदलाता हूँ कहा देख प्रात का आलोचना सवेरे चार बजे और तो स्नान ध्यान करके इतना बड़ा गद्दा लगाना और उसके ऊपर बैठ जाना और बैठ करके पद्मासन लगाना तुम भी लगाना सब कोई सबके लिए ज्ञान है तो, तो त्रेता द्वापर युग में किसी को दिया था ज्ञान तो सबको ज्ञान है सबको बैठना है पर तो हमारा तो समाज चित्त नहीं है हम लोग तो नाना प्रकार के बंधनों में है उन हम्म। बंधन से बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव के बल छूटे आपने के छुड़ावे पीव हमारा समाज चित नहीं है जब तक हमारा समाज नहीं है गीता में हम लोग जरूर रोज पाठ करने का पाठ भी नहीं करते हैं पिंगला पिंगला के घर जाई सुखमन लाल रहे ठहराई ओम सोम सत बेचारा लाल में किया समारा मन को मार में चढ़ जाई मान सरोवर पर नहाई छुटबे कसमल मिले अली का ही नैनन साहिब को देखा करने नदीदार महल में यारा है गुरु का वचन असत्य नहीं होता तेरे महल में प्यारा है जो अर्जुन को कहा कि देख तुम बैठना तेरे को परमात्मा जरूर मिलेगा क्योंकि उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं उत्तम जिज्ञासु तो गुरु का वचन सुना और उस पर तत्पर हो गया जैसा गुरु ने बताया उसमें तत्पर हो गया वो तो उत्तम जिज्ञासु उसको परमात्मा मिल गया जैसे जैसे ज्ञान हो जाएगा वैसे वैसे परमात्मा मिलेगा क्या ज्ञान के छह साधन हैं समदम सरता तीसरी समाधान उपराम छठी तितिक्षा कहत है भिन्न भिन्न है नाम सब माने सब में साहेब का प्रकाश देखना ये सब साहेब की मूर्ति है इसमें दूसरा नहीं है पहला धर्म समदम तो इंद्रियों का दमन करना ये इंद्रिय बहिरंग रूप में बह रही हैं यानी उनको रोकना समदम श्रद्धा रखना पर श्रद्धा जैसे आप सब में श्रद्धा है भक्ति है ज्ञान है मनुष्य सब एक ही है परंतु अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं मंदगिरी करते नमस्कार करते सब कुछ करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और जो बंदगी नहीं हो ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए ऊंचा ऊंचा जो चले सो नर प्यासा जाए ऊंचे पानी नहीं टिकता है ऊंचे पानी चलाना हो तो इंजन लगाना पड़ते हैं बड़े बड़े और ऊंचे पानी ले जाना पड़ता है इसलिए हम लोग संसार में बंधे हुए प्राणी तो इसी तरह से अर्जुन को कहा तो अर्जुन बैठा दो चार दिन आप भी बैठना सबको माई भाई सबको जाना है रहना नहीं देश बिराना है यह संसार सुपन की माया जाग पड़े भग जाना है रहना नहीं देश बिराना है ये देश बिराना है दूसरे का देश बिराना है इसलिए हम लोगों को जाना जरूरी है सुयोजन ने देखा बैठा है और बैठ करके देखे तो मन कहीं चला जावे कभी घोड़े में जाए कभी हस्ती में जाए आप भी बैठ के देखना कभी बैल में जाएगा कभी लड़का में कभी लड़की में कभी कहीं वो परमात्मा में कभी नहीं लगेगा तो इसलिए उसको जो है दस पांच रोज बैठा और घबरा गया मनी राम से लड़ना बहुत कठिन काम है सोच फिक्र मत करिए भाई मनी राम से लड़िए ये मनी राम जो है हमारे इनसे हमको लड़ना है इनको समाहित करना है तो हम लोग सत्य लोक में चले जाएंगे मनई से बंधन मनई से मुक्ति मनई के सकल बिलासा तो जीव मन जीत भयो नहीं बस में सोते दे बहुत जीवत समझे जीवत बूझे जीवत हो ब्रह्मनाशा जीवत समझ ले वह जीवत बूझे गुरु से प्रश्न करे ये मन कैसे वसीभूत होगा इसको करना है जब तो जब हमारा समाज चित हो तब तो प्रश्न उठे समाज चित नहीं हो तो कहाँ प्रश्न उठे तो अर्जुन बैठा दस पांच रोज घबरा गया अब भी बैठना दो चार रोज तो बैठो कम से कम जीवन भर में ये तमाम दुनिया के प्रपंच करते हो तमाम विद्याएं पढ़ते तमाम सब कुछ करते हो विद्या का भी बहुत अभिमान होता है विद्या जिसने पढ़ी वो उल्टे ही हो जाता है जिस रास्ते में गया रहा चला जाता है इसलिए सतगुरु की विद्या आगम विद्या जिसको हम धारण करेंगे तो हमारे अंतरंग की शुद्धि होगी तो उसी तरह से अर्जुन बैठा बैठा दो दिन दस दिन तो घबरा गया कहा कि महाराज मेरा तो मन से मन से लड़ने के लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या है नहीं जो मेरे पास है तो आपके पास है तो उनके पास है सबके पास मन है यानी उससे लड़ने के लिए अपने अपने मन से ये संकल्प विकल्प जैसा करता है कैसे कैसे जीव जो है ज्ञान अंधेरे में चला जाता है तो मैं जैसे कहा तो बैठा दो चार दिन दस दिन तो घबरा गया कहीं बैठना होता है तो सब हल चलाना मोटर चलाना घर चलाना हवाई जहाज चलाना ये तो सब सरल है मनी राम से लड़ना बड़ा कठिन है इसको हम्म। बैठ करके देखना तो उसने कहा कृष्ण भगवान से चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याम निग्रम मन ने वायुरम हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है वायु से वेगवान है हवा से वेगवान है हवा दो कोस जाती है देखो चंद्रम चला गया एक सेकंड में इतनी दूर चला गया तीन करोड़ योजन की ऊंचाई चंद्रमा के हाँ, वहाँ चला गया जो भाई से वेगवान है तो इसलिए चंचलम ही मना कृष्णा जन्माथी बलवतम तस्य हम निग्रम मन वायुरेव दुष्कर्म भाई से वेगवान है इसको कैसे रोका जाए कहा घबरा नहीं जाना एक तो तुम उत्तम जिज्ञासु था तूने प्रश्न किया नहीं कोई प्रश्न नहीं करता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा कहाँ जाएंगे कहाँ कोई पूछो ऐसे सब भक्त ही बैठे हुए भक्त कुल में जन्म होना बहुत पुण्य समझना अर्जुन ने को जब ज्ञान दिया तो अर्जुन घबरा गया और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ महाराज इतना ज्ञान यद्यपि मैं नहीं हो सकेगा तो कौन सी योनि में जाऊंगा रोने लगा घबराने लगा तो कहा रे घबराने श्री मताओं के युग बसते उड़ी जाते श्री मानो के घर में जहाँ से आजन्म भक्ति होगी करम हवा को बांधना जैसे हम लोग हैं बैठे समाहित होकर के और नाश का के अग्रभाग पे देखें हमारी वायु बंद हो जाती तो इधर की वायु बंद हो जाती ये समाज चित्त में तुम्हारे अंदर में सब विभूति है जब कोई करे तब तो ये लौकिक वासना ऐसी प्रबल है जिन वासनाओं के बीच में ये अंतरकरण की अशुद्धि होकर अल्पज्ञता की लहर में चलता है अपने को बड़ा से बड़ा धन देवे बड़ी से बड़ी संपत्ति देवे लेकिन मन चंचल है वो कहीं नहीं जाता वो मायक पदार्थों में लग जाता है तो हम लोगों को ये अंतिम जन्म मनुष्य का है हम्म। और फिर हम लोगों को सतपंथ मिला हुआ है कबीर साहब का सतपंथ है सत्य साहब है और सत्य सतगुरु है गुरु सत्य स्वरूप है इसलिए हम लोगों को इन बातों को सोचना अर्जुन बैठा दस पांच रोज और घबरा करके छोड़ दिया कहा महाराज बड़ी मुश्किल दिखाई देती तरह से हम लोगों को सोचना जरूर है जो हम सब लोग अर्जुन भीम नकुल सहदेव बैठे हमको समायोचित करना जरूरी है यानी अंतिम अवस्था में हमारे यहाँ चार आश्रम है एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके पच्चीस वर्ष तक विद्या पढ़े और पच्चीस वर्ष की अवस्था में गृह आश्रम में प्रवेश हो गए प्रवेश हो गए जब वो संयम से लिखा हुआ है अब उधर तो नहीं जाऊंगा लंबी चौड़ी कथा है इसलिए समय चित्त हमारे पास जब नहीं होगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में जावे पच्चीस बरस गृहस्थ आश्रम में रहे पच्चीस बरस बांध के शुद्ध आश्रम में रहे स्त्री पुरुष संयम से रहे एक साथ रहे और संयम से रहे उसको बांध पर हम कहते हैं और अंतर में संन्यास लोग त्याग देवे ये सारे संसार की ममता जाति पाति कुटुम्ब परिवार ये सब छोड़ने की चीजें हैं इसको बंधन में पड़ेगा तो कितने जन्म तक बंधन रहेगा तो हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए सदगुरु के ज्ञान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शंकर शेष गीता की जान नहीं था सदगुरु का देश यहाँ गीता वीता की जब नहीं है तो सदगुरु का देश है हम लोगों को जानना समझना चाहिए गुरु को मानस जानते ते कहिए हम लक्ष्य राशि भरमते पढ़ते जम के फल गुरु को मनस बुद्धि से देखते हैं जैसे हम मनस करते उसकी बुद्धि लोग गामनी होती है कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता इसलिए अष्ट सिद्धि है आठ सिद्धि नौ निधि धर्मा महिमा प्राप्ति परिकाम्य ईशत्व बसत्व सिद्ध धर्मा अपने स्वरूप को अणु बना लेना जैसे जब लंका में गया सोचा जस जस सोचा बदन बढ़ावा दस दस कप कपरूप रूप दिखावा जैसा सोचा बदन बढ़ाती मुख बढ़ाती जाए वैसा रूप दिखाते जाए और मच्छर का रूप और के उसके मुख में कूद गए प्रकांड से निकल गए ये पहली सिद्धि अणुमा महिमा तो महिमा सिद्धि यहाँ से सारे लोग पर लोग दिखाई दे उसको महिमा सिद्धि कहते हैं महिमा प्राप्ति अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कर लेना आत्मा और परमात्मा अप्राप्त वस्तु है ये तो बड़े समाहित से मिलते हैं इसलिए अणुमा महिमा प्राप्ति फिर काम में कामना जो है स्वर्ग वैकुंठ जो है जब हमारा समाज चित्त होता है तो अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उन कामनाओं के द्वारा सब स्वर्ग वैकुंठ दिखाई देता है हनुमा महिमा प्राप्ति तो कामया ईश्वर तुम बसत तुम के शासन करते हुए चंद्रमा खड़ा रहो तो खड़ा रह जाए उसको ईश्वर तुम कहते हैं ईश्वर तुम शासक तुम शासन करे जिससे वो वहाँ का वहाँ चल जाए अनुमान महिमा प्राप्ति के सामने है ये सब तुम बसतुम तो अष्ट सिद्ध है आठ सिद्धि है और एक एक सिद्धि की नौ नौ लिद्धि है ये संसार में सब चल रही है हम लोग जानते हमारे घर में तजुर्ब आ गया हमारे घर में अज्ञान आ गया तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता तो ये सारे संसार में थोड़ी है सब जगह देखते हो कैसी कैसी विभूति कैसे कैसे ज्ञान कैसे कैसे परमात्मा सबको मिलता है रोज परमात्मा की गाड़ी बंद नहीं है हम लोग जो जावे कि सोजत स्टेशन पे हम दो बरस नहीं गए तो गाड़ी खाली गई होगी खाली सोजत स्टेशन में खाली जाती है वो तो भरी जाती है रोज ही भरी जाती है इसलिए हम लोगों को ये बातें गंभीरता से समझना है और इस पर तत्पर होना है व्यर्था समय नहीं खोना है सुने ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है इसमें कहाँ कहाँ की बातें ये भी सबको करना है और सदगुरु के ज्ञान को आधार में छोड़ना नहीं है शाम सुबह ये नहीं कि हमने तो कल ले लिया था नाम आवाज काहे को लेना है अरे कल खा लिया था दूसरे दिन तो फिर देर से चाहिए तो इसी तरह से ये यहाँ से सप्त लोग तक जाना ज्ञान की अवधि नहीं कितना बड़ा ज्ञान है उसको धीरे धीरे अपनी आत्मा को समाहित करना जैसे बरसात में जल बरसता है और नदी नाले बहते हैं बहुत पानी बहता है तो पानी गंदला हो जाता तो अपना मुख नहीं दिखाई देता और जब कुमार का महीना आता है तो पानी स्थिर हो जाता है स्थिर हो जाने से अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है सारे शरीर का प्रतिबिंब जगत का प्रतिबिंब दिखाई देता है इसी तरह हमारा मन चंचल है गंदा मन है विषय वासना में अटका हुआ है यानी अभी से नहीं कर रहा कितने युग हो गए कितने युगों से इस संसार में प्रवेश है इसको मन को हटाने के लिए सदगुरु की भक्ति है सतगुरु का ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है इसलिए हम लोगों को धारण करना चाहिए तो नाम का श्रवण करना चाहिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई माई है भाई है पुरुष है स्त्री है ये आत्मा जो है नाई धोबी ब्राह्मण स्त्री पुरुष नहीं होता है यही आत्मा जानते हो लिखा है अंत काल में लक्ष्मी सुमर ऐसी चिंता माए जो मर है लक्ष्मी का धन का चिंतन करते करते मर जाता है तो सर्प जो बल होता है सातवी योनि में जाता है धन तो ऐसी जगह खर्च करना था यानी जिससे ज्ञान उत्पन्न होता हम लोग पर लोग का ज्ञान लेते वहाँ इसको धन को व्यय करना था वो नहीं किया तो ये यानी जब ये जीव आत्मा यानी क्या कहा वो तंत्र जमीन में गाढ़ सर्प होता है हाँ, हाँ? हाँ वो तो मध्यम के ये संसार में प्राणी आया है तो इसको अपने को छोटा नहीं समझना कि मैं नाई हूँ मैं धोबी हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ये आत्मा स्त्री पुरुष नाई धो भी नहीं होता है अंतकाल में लक्ष्मी सुमरे ऐसी चिंता माए जो मरे सर्व जोन बल बल होता रहे और अंतकाल में मंदिर सुमरे हमसे भी लोग कहते हैं कि साहेब आप तो साधु हैं कहा के चक्कर में पड़ गए मंदिर फंदिर के तो ये मंदिर तुमसे नहीं बढ़ेगा तो वही उसी में अवस्था रह जाएगी वही भूत बनोगे तो वही मंदिर में मैं भूत नहीं बनूंगा मेरे तो कर्तव्य है जो धीरे बहुत अच्छे कर्म में लगा देता हम भूत भूत नहीं बनते हैं तो इसलिए हम लोगों को सब बात सोचना है अंत काल में मंदिर सुमरे ऐसी चिंता माज मरे अमेरिका में एक सौ चालीस मंजिल के मकान है सत्रह मंजिल तक तो मोटर जाती है तो उसी में आस्था रह गई ईश्वर परमात्मा को नहीं देखा उसने वो धन मिला उसी में लगाते लगाते मर गया अंत काल में मंदिर समरे ऐसी चिंता माँ ये मरे प्रेत जौन बल बल और भूत की होनी में चला जाता है और अंत काल में स्त्री समरे सबके ऊपर आई है हम लोग जो है अंत काल में स्त्री समरे ऐसी चिंता माँ मरे दृश्य जो बल बल रहे स्त्री की योनि में जाता है हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी गले में तोक नाक छिड़ाए कान छिदाए सब कुछ उसको बंधन दिया बिचारी को भुला दिया उसकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप से वो भूल करके स्त्री बन गया इसलिए हम लोगों को ये सब बातें समझना है ये ऐसे नहीं है कबीर साहब कहते हैं अंत काल में लक्ष्मी सुबह <laughs> ऐसी चिंता माए जो मर है प्रीत जीवन बल होता है अंत काल में स्त्री सुन रहे ऐसी चिंता हम लोग रात दिन स्त्री का चिंतन करते करते और शरीर को छोड़ देते हैं परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहता तो स्त्री होने में चले जाते हैं ये आत्मा स्त्री बन जाते तो हम लोगों को गंभीर बातें समझना ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से फिर बड़ा मनुष्य शरीर तो मिलता है श्रीमतांगे योग भ्रष्टो पी जाए थे अच्छे कुल में जन्म होना भक्तिवान होना भक्ति कुल होना बहुत पुण्य का प्रताप समझना वो वो अंतिम जन्म होता है उद्धार हो जाता है कोई हो जहाँ अभिमान की मात्रा रह जाती है विद्या का मान रूप का मान धन का मान जाति का अभिमान जो है कोई नहीं है परंतु अभिमान में बैठा है तो इसलिए इस सब अभिमान को छोड़ करके सदगुरु का नाम लेना है और इस नाम को समरण जरूर करना चाहे पढ़ा लिखा हो और नहीं पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो सतनाम पे उसको विद्या कहाँ से आ जाए और जो नहीं पढ़ा लिखा हुए और उसकी भूम का अभिमान में हो तो वही ठहरे वही रह जाए उससे आगे जाए नहीं कहीं नहीं जाए इसलिए हम लोगों को उस नाम का स्मरण करना सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कही Satyanam Satyanam Satyanam Kaiye Jai Videra Ke Sahib Tai Videre Satyanam Satyanam Satyanam Kaiye Jai Videra Ke Sahib Tai Videre ये नहीं छोड़ देना ये पिंडाल में पिंडाल में विसंगत में बैठे तो सत्य नाम कहने लगे और यही छोड़ के चले गए यम पटतम तुम गुरु भी ने भेज दिया जो पढ़ा लिखा महाराज कैसा तो नहीं है तुम्हारा ज्ञान तुमको चढ़ा दे ऐसा नहीं करना भूल करके जानते सदयुग है सदयुग में आए हुए प्राणी अनंत वासनाओं से छूट जाता है और छूट करके सब पुरुष परमात्मा के लोग को जाता है इसलिए सदगुरु ने सात मंत्र दिए मनुष्य बनने के लिए ये रोज सुनाया जाता है क्योंकि ये जीव अज्ञानी है किधर लुढ़क जावे किधर चला जावे अज्ञाने न ज्ञानम तेन मुयंती जंतुआ अज्ञान से ढक गया है ज्ञान इसलिए जीव आत्मा मोह को प्राप्त हो गया मैं नाई हूँ धोबी हूँ ब्राह्मण हूँ मुसलमान ये आत्मा नाई धोबी ब्राह्मण नहीं होता है ऐसा समझो कि हम सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप हैं तो सत्यानंद परमात्मा कैसे मिलेगा तो सत्य की उपासना से मिलेगा तो इस नाम से मिलेगा जिसका नाम लोगे हम सारी दुनिया में कितने राम नारायण है कि तो कितने कृष्ण भगवान है तो उनका नाम लेते हैं तो वो मिलते हैं जिसका राम नाम नारायण होता है वो सोलह रूट में कोई मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा इसी तरह सत्य का नाम जो है हम लोग धारण करेंगे सत्य तुम्हारे हृदय में धारण हो जाएगा सत्य की बांधी लक्ष्मी धर मिलेगी है सत्य की बांधी हुई लक्ष्मी दौड़ करके घर में आती है और तुमको ज्ञान देवे ध्यान देवे अविद्या से हटा देवे ये सब करना हम लोगों को है नाम को छोटा नहीं समझना नाम सबसे बड़ा है इसलिए सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम यही विमा ने जिस प्रकार सदगुरु ने विधान किया है और जिन्हें मत संसार में है स्वर्ग में पंखा के मत है उन्हें जीव आत्मा ज्यादा जरूरी है और ये सत धर्म में जो है परमात्मा मिलता है उसकी स्थिति सत स्वरूप हो जाती है सुख सागर में चला जाता है जैसा भी इसका कल्पना होती है ऐसे संसार बन जाए संसार को छोटा ही है हम कहे एक विष्णु भगवान है हमसे पूछते हैं अज्ञानी जो साहेब जब हम लोग विष्णु बन जाएंगे तो विष्णु तो एक ही लोक है तो उसमें हम लोग कैसे मांसाहारी मानवा इसलिए कभी मांस नहीं खाना मांस तो संस्कृत शब्द है मुर्द नहीं खाना बकरी मुर्गी सुअर गधे कोई नहीं खाना हिंदू कहता मैं मछली हिंदू कहता है कि मैं गाय नहीं खाऊंगा और मुसलमान कहता सुअर नहीं खाऊंगा तोबा तोबा और ईसाई कहता मनुष्य नहीं खाऊंगा और तीनों को ध्रुव बना देती है और सारी ध्रुव गांठ के चली जाए युवा नहीं खेलना युवा खेलने वाला पागल होता है घर की ऋण बिताकर कंगाल बन जाता है चोरी नहीं करना चोरी करने वाला अपराधी यहाँ पकड़ा जाता पुलिस दंड देती है और मर करके बैल भैंस की योनि में चला जाता है यही जी बात में सब जगह जाता और भांग तमाकू सूत्रा सुरापान से हेत यहाँ तो नहीं कोई पीते दिखाई देता इकादा होगा कोई अज्ञानी नहीं तो बहुत दुर्गंधी यहाँ बैठना मुश्किल है सत्संग कहाँ होता है जहाँ तमसी लोग होते हैं वहाँ कार्य कर सकते हैं यानी हम लोग जो है रामायण रख लेते हैं तो रामायण कहते हैं रामा हो रामा कृष्णा हो कृष्णा ऐसा रोज कहते हैं ढोलक बजाते हैं और ये चिलम गर्म हो गई है नरम हो गई अगर बम बम करते हैं तो कुछ होने में उसको परमात्मा का है तुम सज्जन लोग देखो जो है सज्जुग में आए हुए हो इसलिए सत्संग जरूर कराना कई यानी जो जो रहे करोड़ा तो निकले टूटी हम लोगों ने सोचा था तो इन लोगों को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़े बड़े विद्वान बनाएंगे और कबीर पंथ जो है इसको बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं हाँ। लोग सब धर्म के प्रचारक हैं भंग तमाकू सूत्रा सुरापान से है तीन नर के जाएंगे नाते पुरुष समय नाते पुरुष समय नरक में चले जाए अभी तो ये पुरते पीते थे एक गुड़ा को डिबिया निकली है तुझे माताएं भी सरोवर बुढ़ा के लगाने लगे यानी इनको भी नशा चाहिए इसलिए हम लोगों को पहले ये नशेली चीजें सब छोड़ देना और सदगुरु की भक्ति करके पार होना बोलो सदगुरु बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय कबीर साहेब की जय श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता श्री घेवर राम जी की स्मृति में सदगुरु श्री हजूर साहेब के श्री चरणों में लहर तारा निर्माण हेतु इक्कीस सौ एक रुपया साहेब के चरणों में समर्पित किया साहेब से विनती है कि उनको खूब आशीर्वाद दे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे ऐसा आशीर्वाद दे बोलो सदगुरु कबीर साहेब की श्री हजूर साहेब की लहर तारा धाम की बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय आगे कर्णधारे धारे जय साहेब कबीर गियारती गणित गहारे साहेब गणित गहारे धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुदमा जय जय सात कबीर साहिब कबीर की जो कोई कभी पदारथ भव में नहीं आवे जय जय सच कबीर जय जय सच कबीर साई सद्गुरु कबीर साहेब की जय बलदेव जोर साहेब की जय दुखिता तुम बिन रटो द्वारे प्रगट दर सड़ गुरु स्वामिया सुनो विनती मोरी बलि जाओ विलंबन की गुरु बेवी गुल बी दे बंदे बारे सूरती जो त हो आर ग़रीब रेवा आरती हो पारेवी नाल साहिब रहो साईं कबीर सांण गी पास साहिब कबीर सांण गी दि पास परम परकास साहिब आरती गरीबणी जो सारे आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती साहेब कबीर संतन दे साहेब कबीर संतन के पास माया भारत आरती ग़रीब ॾेव जशायो भारत आरती देर दया दया करो तस गुरु साहे वे

मत संसार में है स्वर्ग वैकुंठ आदि के मत है उनमें जीव आत्मा जाता जरूरी है और ये सत धर्म में जो है परमात्मा मिलता है उसकी स्थिति सत स्वरूप हो जाती है सुख सागर में चला जाता है जैसा भी इसका कल्पना होती है वैसे ही संसार बन जाता है ये संसार कोई छोटा थोड़ी है हम कहे एक विष्णु भगवान है हमसे पूछते हैं लोग ज्ञानी जो साहेब जब हम लोग विष्णु बन जाएंगे तो विष्णु तो एक ही लोग है तो उसमें हम लोग कैसे रहेंगे कहाँ आसन लगाएंगे अरे कह दे तुम विष्णु तो बन जा पहले विष्णु बनेगा तो तुम अपनी सृष्टि बनाएगा तेरे आसन की क्या जरूरत है हाँ। तो इसलिए हम लोग सब ऐसे परमात्मा के स्वरूप है हाँ। जब तक परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है इसलिए सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम करिए जय सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम करिए सदगुरु ने ज्ञान दिया है सात बंध दिए मन सारी मानमा इसलिए कभी मांस नहीं खाना मांस तो संस्कृत शब्द है मुर्गा नहीं खाना बकरी मर्जी सुअर गधे कोई नहीं खाना हिंदू कहता मैं मछली हिंदू कहता कि मैं गाय नहीं खाऊंगा और मुसलमान कहता सुअर नहीं खाऊंगा तोबा तोबा और ईसाई कहता मनुष्य नहीं खाऊंगा और तीनों को ध्रुव बना देती है और सारी ध्रुव गांठ तो के चली जाए युवा नहीं खेलना युवा खेलने वाला पागल होता है घर की दृढ़ता कंगाल बन जाता है चोरी नहीं करना चोरी करने वाला अपराधी यहाँ पकड़ा जाता पुलिस दंड देती है और मर करके बैल भैंस की योनि में चला जाता है यही जी बात में सब जगह जाता है और भांग तमाकू सूत्रा सुरा पान से हेठ यहाँ तो नहीं कोई पीते दिखाई देता है कहता होगा कोई अज्ञानी नहीं तो बहुत दुर्गंधी यहाँ बैठना मुश्किल है सत्संग कहाँ होता है जहाँ तामसी लोग होते हैं वहाँ कार्य कर सकते हैं अरे हम लोग जो है रामायण रख लेते हैं तो रामायण कहते हैं रामा हो रामा कृष्ण ऐसा रोज कहते हैं ढोलक बजाते हैं और ये चिलम गरम हो गई है नरम हो गई अगर बम बम करते हैं तो पशु होने में उसको परमात्मा का है तो तुम सज्जन लोग देखो जो है सज्जुग में आए हुए हो इसलिए सत्संग जरूर कराना कई कोई विद्वान उत्तम कोटि का हो कबीर साहब का अनुयायी हो तो कबीर साहब के अनुयायी भी जो यानी जो जो रहे करोड़ तो निकले टूटी हम लोगों ने सोचा था कि इन लोगों को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़े बड़े विद्वान बनाएंगे और कबीर पंथ जो है इसको बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं हम लोग सब धर्म के प्रचारक हैं भंग तमाकू सूत्रा पान से है ते नर नर के जाएंगे नाती पुरुष समेत नाती पुरुष समेत नरक में चले जाएंगे अभी तो ये पुरुष ही पीते थे एक गुड़ा को डिबिया निकली है तो ये माताएं भी सब गुड़ा को लगाने लगे यानी इनको भी नशा चाहिए इसलिए हम लोगों को पहले ये नशे चीजें सब छोड़ देना और सदगुरु की भक्ति करके पार होना बोलो सदगुरु वज्र slow. महीने का ज्ञान नहीं क्या खाना क्या पीना क्या करना कुछ नहीं जानता है तो तीसरी श्रेणी का मनुष्य होता है तीसरी श्रेणी का जानते हो चौरासी लाख ज्ञानी है कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा गिरा और बकरी मुर्गी है तमाम दुनिया के जो प्रपंच है ये चौरासी लाख ग्रामीण चला जाता है जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार ये जीव आत्मा चौरासी में सिखाया ये भाव बदलता है तो दूसरी चर्चा नहीं करो यहाँ एक बात पे ध्यान दो दूसरी चर्चा करो हम लोग जब से जन्म लिया तब तो से नाई धोबी ब्राह्मण थे मुसलमान और हमारे माता पिता ने मरण धर्म बताया कि तुम्हारे पिताजी चले गए तुम्हारे बाबा चले गए तुम्हारे दादा चले गए ये जाता आता कोई आत्मा नहीं ये तो हजार हमारा अपना सी है कर्मों के अधीन हुआ ये स्वर्ग वैकुंठ सब लोग जाता तीन गति जीव आत्मा की है एक तो सात्विक गति है दूसरी राजस गति है तीसरी तामस गति है सात्विक गति में सत्कर्म करने वाले दान पुण्य चिप कर्म करने वाले भजन पूजन श्रुति शरण में रखने वाले वो देव लोग जन लोग तब लोग तक चले जाते हैं और मध्यम कोटि के मनुष्य है ये मनुष्य की तीन गति पर वो दूर श्रोतवान दृष्टि करो तो भाई हार गई तेरी श्रुति लोग गांधी हो गई लड़का लड़की में फंस गई है नहीं है लेकिन फंस गई हमारे माता भी अज्ञानी पिता भी अज्ञानी भाई बंद भी अज्ञानी जाति के लोग भी अज्ञानी और देश के लोग भी अज्ञानी जाने उनको ये पता नहीं है कि ये आत्मा क्या चीज है तो हम आए कहाँ से जाएंगे कहाँ हमारे माता पिता ने बाल अवस्था से यानी हम लोगों को शिक्षा दिया कि बेटा तू नाई है धोबी है ब्राह्मण है मुसलमान है ये नाई धोबी आत्मा नहीं होता ये सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है और सूरत पर सतलोक पहुंचे सूरती से सतलोक चला जाता हम लोग सतलोक पर मतलब लोग जानते नहीं कौन रहता कब जानेंगे जब सदगुरु की शरण लेंगे और सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे सदगुरु मिले तो अगम बता रहे अगम की बात बताते हैं जिसकी गम नहीं है हम लोगों को हम लोग संसार में भूले हुए प्राणी हैं न ही धोबी बन करके अपना जीवन बताते हैं और परमात्मा पास में है उसको कभी नहीं देखते परमात्मा को देखने के लिए हम लोगों को सदगुरु के शरण लेना पड़ता है सदगुरु सबसे बड़े परमात्मा होते हैं ज्ञान स्वरूप होते हैं जहाँ वेद शास्त्रों की गति नहीं है वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शंकर शेष गीता की जागम नहीं था सदगुरु का देश सदगुरु का अगम देश है हम लोग नहीं जानते हम लोग ना ही धोबी बनकर के जीवन बिताते उसी का अध्यास करते हैं परमात्मा पास में ऐसा कभी नहीं देखते वो तो परमात्मा को देखने के लिए हम लोगों को दिव्य दृष्टि चाहिए पहले तो ये निश्चय है कि हम लोग कभी मरते जीते नहीं है शरीरों को जरूर बदलते हैं भाषा गीता में लिखा है भाषण जीर्णानी यथा विहार नवान गिरना गरु पुरानी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् निन्दान् संयात्मवन्दे पूर्ण अच्छे कर्म भूमि पूजन भाग भजन और साहब की श्रुति में रहते हैं वो देवता है तो जिनकी मानसी वृत्ति होती है जाति प्रति में हमारी माता पिता ने ठोक दिया जब बच्चा पैदा होता है उसी समय हमारे माता पिता बताने लगते हैं ये बेटा तुम्हारा बाप है ये भाई है ये दादा है कोई नहीं उसका बाप जो है वो कहता मेरा बेटा है और उसका बेटा कहता मेरा बाप है और तीसरा कहता नाना है चौथा कहता मोसिया है पांचवा कहता कि नहीं नहीं हमारा साला है तो इतनी हमारे यहाँ जो नाना प्रकार के मत मतान चले हुए हैं पूर्व मतों में हमारी अवस्था होती है सदगुरु के ज्ञान से भ्रम दूर हो जाता है और सदगुरु के शरीर में चले जाते हैं सदगुरु का शराब शरीर छोटा नहीं है ये तो सूरत बसी संसार में तासे पर गौ और सूरत मान दस्ते करो तो आप ही हाल है सुरती लोग कामनी हो गई इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई देता और सूरते जो है देखो लोग चली गई चंद्रमा देख रही है आज अष्टमी का है क्या सप्तमी का है उस चंद्रमा को देख रही है और उससे आगे तारागण के लोग हैं उस तारागण के लोक में आ गया यहाँ से दिखाई देता है तो। अजनार ધારણીય રવિ